गुणकृत पात पतनहि केहि कौन मान मद जो बन ज्वर केहि बलकावा ममता केहि कर सावा मच्छर काहि कलङ्कनलावा काहि न डुलावा चिन्ता सापिनी को नहि खाया को जग जाहि न व्यापी माया रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया मत्सर डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया चिंता रूपी सापिन ने किसे नहीं खा लिया जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो कीट मनोरथ दारु शरीरा जहिन लाग घुन को असधेरा सुत बितलोक इस नाती ने कहि कैम तेजन कृतनमलिनी यह सब माया कर प्रबलय मिति को बरनय पार शिवचतुन जाहि जराहि अपर जीव के ही लेखे मनोरथ क्रीड़ा है शरीर लकड़ी है ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो पुत्र की धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया बिगाड़ नहीं दिया यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है यह अपार है इसका वर्णन कौन कर सकता है शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं तब दूसरे जीव तो किस गिनती में हैं संसार महो माया कटक प्रचंड सेनापति भट्ट दम्भ कपट पाखंड सोदासी रघुबीर के समुझे मिथ्या सोपे छूटन राम कृपा बिनो नाथ कहूँ पद रोपी माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है कामादि काम क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं और दंभ कपट और पाखंड योद्धा हैं वह माया श्री रघुवीर की दासी है यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं हे नाथ यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ जो माया सब जगहि न चावा वा जासु लखे काहु न पावा सोई प्रभु खगराजा नाच नटे एव सहित समाजा सोई सच्चिदा नन्दघनरामां अजविज्ञायनरूपबलधमां व्यापकव्याप्य अखण्डयनन्ता अखिलय शक्ति भगवन्ता जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र करने किसी ने नहीं लख पाया हे खगराज गरुड़ जी वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रुगुटी के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नटी की तरह नाचती है श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम सर्वव्यापक एवं व्याप्य सर्वरूप अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और छह ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है अभुलाभ्र गिरा गोतीता सब निरा कार निरमोहा नित्य प्रकृतिपार सुख सन्दोहा प्रकृति पारप्रभु सब ब्रह्म वीर जय मोहकर कारण नाहि रवि तम कबहु कजाहे वे निर्गुण माया के गुणों से रहित महान वाणी और इंद्रियों से परे सब कुछ देखने वाले निर्दोष अजेय ममता रहित निराकार मायिक आकार से रहित मोह रहित नित्य माया रहित सुख की राशि प्रकृति से परे प्रभु सर्वसमर्थ सदा सबके हृदय में बसने वाले इच्छा रहित विकार रहित अविनाशी ब्रह्म है यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है भगत हे तु भगवान प्रभु राम तनु उतनुभूप किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप यथा अरे कवेश धरे करहि नटको सोई सोई भाव दिखावये आप न हो न सोई भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं जाता